चौबीसवें श्लोक तक विचार हो गया है इसमें कहा था ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रत्यय गुण संख्या ने यथावत श्रोता ऐसा कहा ज्ञान तीन प्रकार का होता है गुण के भेद के कारण सतुगुण रजगुण तमगुण के कारण या जानकारी और कर्म भी तीन प्रकार का होता है गुणों के कारण तीनों गुणों के कारण से कौन से गुण के आश्रित होकर के व्यक्ति कर्म करता है उस प्रकार के कर्म तीन प्रकार के कर्म होते हैं और कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं कहा अभी कर्ता बाप में आना है उनमें से ज्ञान तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा हो गई सारे संसार प्राणी मात्र में एक ही आत्मदृष्टि जिस ज्ञान से होती एक ही आत्मा है ऐसा जानता हो जिस ज्ञान से और अविभक्तम जो भूतेश भी बोला है एक ही आत्मा दिखता हो विभक्त नहीं है प्रत्येक शरीर में आत्मभेद नहीं है एक ही आत्मा है ऐसा दिखता हो उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न ज्ञान होता है ये ये आत्मा भिन्न ये आत्मा भिन्न ये आत्मा भिन्न ऐसा ज्ञान होता हो पृथक ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान कहा था नाना प्रकार के पदार्थों में प्रत्येक में आत्मभेद जिस ज्ञान से दिखता हो उसको राजस्व ज्ञान कहते कहा था और जो एक ही शरीर में आत्मा है समझना यही है आत्मा जो कुछ है यही है बाकी आत्मा नहीं है यह बुद्धि होना ईश्वर बुद्धि का प्रतिमा में ही ईश्वर है अन्यत्र नहीं है बुद्धि होना दोनों तो की व्यापकता का हनन करना जो ज्ञान ये तो कृष्ण बने कस्मिन कार्य शक्कर वाहितुकम बल बताया तो कहा था केवल यही शरीर में जो है आत्मा यही है बाकी नहीं आत्मा यह बुद्धि आत्मा के विषय में ईश्वर के विषय में जो सामने प्रतिमा है उन्हीं में एक ही प्रतिमा में ईश्वर है अन्यत्र नहीं है ऐसे बुद्धि होना जो तत्व को विषय न करता अतत्व को विषय करने वाला ज्ञान है वस्तु को विषय न करता ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान समझा ये कहा था यदि हमारे में तामस अथवा राजस ज्ञान आदि हो तो उसको हटाना दुर्गुण को हटाना है सात्विक में जाना है यही या कथन का तात्पर्य होता है इसी प्रकार कर्म तीन प्रकार का जैसे ज्ञान कर्म तीन प्रकार का नित्य कर्म करता हो कोई व्यक्ति नित्य कर्म हो आप फलाशक्ति से रहित हो राग द्वेष से किया हुआ ना हो राग से नहीं द्वेष से नहीं ऐसा कर्म और फल की इच्छा से रहित व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म हो वो सात्विक कर्म कहलाता है कहा था नियतम संग्रहितम राग द्वेष कृतम अफल प्रेरणा कर्म ये तत्सात्विक मुझसे और दूसरा कर्म कामेप सुना कर्म फल चाहने वाले के द्वारा किया गया कर्म कर्म का फल चाहता है यत्तु दो कर्म ऐसा है सुना कर्म साहंकार अपना अहंकार को लेकर के करता है जो कर्म क्रियते बहुला या समझो कर्म किया जाता है बहुत परिश्रम करके जो कर्म किया जाता है अहंकार के कारण बहुत परिश्रम पूर्वक जो कर्म करता हो दिखाने के लिए तद राजस उदाहत उस कर्म को राजस्व कर्म कहा जाता है रजोगुण से हुआ कर्म इसी प्रकार तमोगुण वाला कर्म को बताते हैं तमोगुण बड़ा होगा जिस काल में उस काल में ऐसे कर्म होता है कैसा होता है तो कहते हैं संप्रति तामसम कर्म उदाहरण का अब दो कर्मों की चर्चा हो गई सात्विक कर्म और राजस्व कर्म की चर्चा के पश्चात तामस कर्म तमोगुण जन्य कर्म को तामस कर्म कहते हैं तो तमोगुण जन्य जो कर्म है उन कर्मों के व्याख्या करते हैं उदाहरण देते हैं यही कहा है अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्षित पौरुषम गुहादारभ्य मोहादारभ्यते कर्म यमस मुच्यते अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्षित पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यमस मुच्यते अनुबंधम पश्चात भावी फल फल को अपेक्षा न करके सोचे बिना आरंभ कर देना कर्म अनुबंधम अनुबंध माने पीछे होने वाला फल होता है वो कर्म के फल के बारे में विचार नहीं करना इष्ट फल मिल रहा है कि अनिष्ट फल मिल रहा है कौन सा फल मिल रहा है इस कर्म का विचारे सोचे विचारे पूर्वक कर देना अनुबंधम अनपेक्ष वहां है आगे साथ अनुबंध अपेक्षा न करके अपेक्षा होनी चाहिए किंतु करता नहीं है अनुबंधम अनपेक्ष क्षय शक्ति क्षय इस कर्म में कितने शक्ति क्षय होना है कितने अर्थ क्षय होना है विचार किए बिना अनपेक्ष सबके साथ अनपेक्षित क्रिया है उसको लगाना अनुबंध को अपेक्षा किए बिना मैंने इष्ट फल मिल रहा है कि अनिष्ट फल मिल रहा है कि उल्टा नुकसान तो नहीं होने वाला है विचार किए बिना अपेक्षा न करके और क्षय शक्ति क्षय अथवा अर्थ क्षय कितना विषय मैंने तो धन आदि खर्च होना इस कर्म में अथवा कितने शक्ति लगनी है ये सब अपेक्षा न करके हिंसा प्राणियों की हिंसा कितनी होनी है यहां इस कर्म में विचार न करके विचार बिना हिंसा अनपेक्षा विचार किए बिना न पौरुषम आगे अपने से शक्य है कि नहीं वो कर्म करना पुरुषार्थता तो अपने जो पौरुष बना है उसको अनपेक्ष अनपेक्ष क्रिया सबके साथ हमारी शक्ति के द्वारा वो कर्म होना संभव है या नहीं सामर्थ्य है कि नहीं विचार किए बिना मोहाद आरभ थे अज्ञान के कारण जो कर्म आरंभ किया जाता है यदि कर्म करने वाले सबकी पहले अपेक्षा करनी चाहिए अपेक्षा करके करना चाहिए अनुबंध क्या होगा इसका पीछे जुड़ने वाला फल हानि हो लाभ हो विचार किए बिना करना चाहिए किंतु करता नहीं क्षय शक्ति क्षय कितनी होनी है अथवा अर्थ क्षय कितना हो रहा है धन कितना खर्चा होना है विचार किए बिना हिंसा कितने लोगों की जान जानी होगी वहां उसको विचार किए बिना कर्म में अनुपेक्ष ही है और पौरुषम अपनी शक्ति हमारे द्वारा शक्य है कि नहीं एकाएक आरंभ कर दिया बिना विचार वो अज्ञानवश जो कर्म आरंभ किया जाता है थे कर्म जत कर्म थे तत् तामस उच्चते उस कर्म को तामस कर्म कहा जाता है मैंने कर्म करने वाले को पहले ये चार बातों का ध्यान रखना चाहिए अनुबंध के विचार करना चाहिए क्षय का विचार करना चाहिए हिंसा का विचार और पौरुषता का विचार किए बिना ये चारों के विचार किए बिना जो कर्म आरंभ कर देता अज्ञानवश करता हो ऐसे कर्म को तामस कर्म तमोगुण जन्य कर्म कहते हैं पांचवा का पश्चात भावी अनुबंधन पीछे होने वाला कर्म के बाद होने वाला फल होता है वो पश्चात भावी यद वस्तु सो अनुबंध जो वस्तु पीछे होने वाला है कर्म के बाद होने वाला कौन होता है कर्म के बाद फल होता है जो वस्तु पीछे होता हो कर्म करने के बाद होता हो उस वस्तु को अनुबंध कहते हैं उच्च कहा तमच अनुबंध उस अनुबंध को अनपेक्ष है अपेक्षा न करके यह अर्थ होता है वह अनपेक्ष क्रिया पद है अनपेक्ष क्षय यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्तिशयो अर्थशयो व सद तम क्षय उस क्षय को अपेक्षा न करके जिस कर्म में यस्मिन कर्मणि क्रियवाणी जिस कर्म के करने पर शक्ति क्षय कितिक शक्ति क्षय होने अथवा अर्थ से धन कितना लगना है विचार किए बिना आरंभ कर देना बाद में परेशान हो जाना तम क्षय उसको क्षय कहा क्षय अनपेक्ष तो एक अनपेक्ष के साथ दूसरा संबंध होगा हिंसा प्राणी पीड़ाम अनपेक्ष कितने प्राणियों प्राणियों की पीड़ा होगी कष्ट होगा ये कर्म में विचार किए बिना अच्छा। तम पौरुषम पुरुषाकार अपने सामर्थ्य मेरे से क्या है कि नहीं जैसे चंद्रमंडल को लाने के लिए कोई उद्यत होता हो सामर्थ्य है किसी का गर्मी के दिन में चंद्रमंडल आ जाए घर में अच्छी बात शीतल होता किंतु सामर्थ्य है लाना ऐसे ऐसे कर्म कर लेना आरंभ कर लेना अशक्य कर्म को लिए लग जाना पौरुषम पुरुषाकार शक्नों भी इदम कर्म समापयितुम इति एवं आत्मसामर्थ्यम विचार के बने ये कर्म करने के लिए मैं समर्थ होता हूं ऐसे अपने शारीरिक शक्ति आदि के विचार किए बिना आरंभ करना ये इति एतानी अनुबंधादि ये चार है अनुबंधादि कर्म में ये विचार करके करना चाहिए कि बिना विचार कर देता है अपेक्षा नगर ही करता है अनुबंधादि अनपेक्ष और पौरुषांता ने कहा अनुबंध से पौरुष तक है ये चार विचार लगा हुआ है अनुबंध है क्षय हिंसा और पौरुष ये चार की अपेक्षा न करके मोहाद वर अविवेक अज्ञानवश जो कर्म आरंभ किया जाता है थे कर्म यत कर्म तत्तामसम तमो निर्वृतम उच्चते तमगुण से संपन्न कहा जाता है वो तमुगुण से उत्पन्न है वो कर्म ऐसे कहा जाता है तमुगुण बड़ा होगा तो ऐसे ऐसे कर्म के लिए उद्यत होता है व्यक्ति ठीक है नहीं इसके साथ बता आगे अब कर्ता ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव तो कहा हुआ है तीन तीन भेद सुनो गुणों के भेद से ज्ञान तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार की चर्चा होगी अब कर्ता कर्ता भी तीन प्रकार का होता है गुण के भेद के कारण सदुगुण रजुगुण तमुगुण कौन से गुण की वृद्धि हो रखी हो उस काल में उस प्रकार के कर्म करने की इच्छा करेगा कर्ता यह है इधानीम कर्तृत्रय विद्यम भ्रुवन आदो सात्विकम कर्तारम दर्शाई टीका बोलते इस समय आओ तीन प्रकार के कर्ताओं को कथे हुए सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के कर्ता को कहना है आदो सबसे पहले प्रथम सात्विकम कर्ता दर्शाई जो सात्विक कर्ता उसको दिखाते हैं सबसे पहले भगवान दिखाते हैं जहां मुक्त संगो न हम्बादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगो न हम बारी धृत्वत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग फलाशक्ति से रहित हो आसक्ति रहित हो करता मैं ये कर्म कर रहा हूं फल के लिए ऐसा न हो अमुक फल के लिए मुक्त संग संग से रहित हो मैंने आसक्ति रहित हो जिसे फलाशक्ति और अहमवादी से कर्म कर्तृत्व आसक्ति भी नहीं आसक्ति भी नहीं मैं करता हूं यह पना भी नहीं दोनों से रहित हो केवल शास्त्र प्रमाण है कर्तव्य समझ कर करता है हम्म। ये तो दोनों फलाशक्ति भी नहीं कर्माशक्ति भी नहीं शास्त्र प्रमाण के कारण करता है शास्त्र प्रमाण है मैं मानव हूं तो मेरे लिए कर्म होता है ऐसे मान तृतीय उत्साह समझ और जब फल भी नहीं फल की आशा भी नहीं रखना कर्तृत्व में अभिमान भी नहीं फिर कर्म क्यों करना कर फिर धैर्य की कमजोरी होगी उत्साह की कमजोरी हो कहते नहीं धृति उत्साह समन्वयता कहा धैर्य उत्साह से युक्त होता हो करे कोई भी कार्य में धैर्य तो रखना पड़ेगा बिना धैर्य कार्य की सिद्धि नहीं होती क्यों उसमें कई वहां पर विक्षेप आदि होने की संभावना है प्रतिबंधक होने की संभावना होती है धैर्य के द्वारा सिद्ध होता है और उत्साह के साथ करे शास्त्र ने कहा है मेरा कर्तव्य है समझ के करे कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है फलाशक्ति का अभिमान भी नहीं है मुक्त संघ आशक्ति रहित मुक्त हो गया संघ गुजरे गुजरे धातु मुक्त हो गया किससे आसक्ति से फलाशक्ति से मुक्त है अहमवादी अहंकार नहीं करता मैं करने वाला कर्म करने वाला हूं यह भी नहीं बोलता ऐसे स्वभाव बना जिसका धृति उत्साह समान है धृति पर धैर्य मनोवृत्ति है ये धैर्य और उत्साह से युक्त होता हुआ समन्वता युक्त युक्त होता हुआ कर्म करता हो और सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्म की सफलता हो या असफलता हो दो, दोनों में क्या निर्विकार स्थिति हो विकार नहीं निर्विकार स्थिति में हो सिद्ध सिद्धि कर्म की सिद्धि अथवा कर्म की असिद्धि कर्म पर दो में एक तो होगा ही तो दोनों स्थिति में निर्विकार निर्विकार रहता हो ऐसा कर्ता सात्विक उच्चते ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है कर्म कर रहा है धैर्यपूर्वक करता है उत्साहपूर्वक कर रहा है फलाशक्ति भी नहीं कर्माशक्ति भी नहीं और इस स्थिति में सिद्धि कर्म की सफलता हो या असफलता हो सिद्धि बने सफलता और असिद्ध बने असफलता दोनों स्थिति में निर्विकार हो विकृत हो जाए कर्म की सिद्धि होने पर खुशी के मारे नाचे नहीं और कर्म की असफलता हो जाए तो रोने भी न लगे सब समान हो प्रभु का कर्म है प्रभु का आदेश है ये मान के कर्म को सात्विक कहते हैं कहा है ठीक है भाष्य है मुक्त संघ मुक्त परित्यक्त संगो ये न मुक्त संगो कहा आसक्ति छोड़ दिए फल में जिसकी यही है मुक्त संघ का अर्थ मुक्त परित्यक्त मुक्त का अर्थ परित्यक्त त्याग दिया संघ मैंने आसक्ति ये ना जिसने मतलब संघ को परित्याग कर दिया उसको मुक्त संघ कहा गया है आसक्ति को त्याग दिया जिस व्यक्ति ने फल आसक्ति सब मुक्त संघ कहा अनहमवादी अहम बदी तुम शीलम वैश्य यदि अहमवादी जो अहम अहम करने वाला स्वभाव बना हुआ जिसको मैं ये करता हूं वो करता हूं वो करता हूं ऐसा स्वभाव वाले को कहते हैं अहमवादी न अहमवादी अनहमवादी जो अहमवादी नहीं है कोई भी कर्म करता है मैं मैंने किया मैं ये करता हूं ऐसा नहीं बोलता किसी से ऐसा अनहमवादी अनहमवादी होता वो अनहमवादी न हम बदनशील अहम बदनशील नहीं हो स्वभाव नहीं उसका अहम नहीं बोलता मैं ये करता हूं वो करता हूं ऐसा नहीं बोलता शास्त्र की आज्ञा है बस पालन करना है और उत्साह समन्वित कहा धैर्य और उत्साह से युक्त हो कर्म में धैर्य और उत्साह से भी करे फल नहीं चाहिए तो क्यों हतोत्साह न हो जाए उत्साह से युक्त हो धृतिर मन धारणम हाँ, धारणा धारणा को ही धृति बोलते हैं माने इंद्रियादि में शिथिलता ना आ जाए कर्म करने के लिए उसका नाम धृति है धारणा धारणा है माने धैर्य उत्साह माने उद्यम उत्साह का उद्यम होता है इसमें जुड़ जाना तन्मय हो जाना काव्याम समन्वित धृति और उत्साह दोनों से युक्त होता हुआ करता हो संयुक्त समन्वित करते संयुक्त संयुक्त है उत्साह समन्वित उसी को धृत उत्साह समन्वित कहा हुआ है और सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कहा है क्रियमाण से कर्मणा जो कर्म किया जा रहा है उसमें सिद्धि हो या असिद्धि हो का सफलता हो या असफलता हो दोनों स्थिति में किसकी सिद्धि असिद्धि क्रियमाण से कर्म न बोलते जो किया जा रहा है जो कर्म उस कर्म में फल सिद्ध हो असिद्ध हो चाहे कहा फल की सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो जो कर्म किया जा रहा है उसकी फल की सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो दोनों स्थिति में निर्विकार हो सिद्ध सिद्धि हो निर्विकार यही है केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्तम फलरागादि ना अयुक्त हो ये कहा यह स निर्विकार उच्चते कहा केवल शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही प्रेरित है शास्त्र में कहा हुआ है तुम अमुक वर्णाश्रम ये तुम्हारे लिए कर्म है तो शास्त्र में कहा हुआ उसको मान के चल रहा केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त है यही केवल केवलम शास्त्र प्रमाण केवल शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रेरित होता हुआ फलराजादि आदि ना अयुक्त फल फल के आसक्ति आदि के द्वारा संयुक्त नहीं है संलिप्त नहीं है स निर्विकार उचित उसी को निर्विकार करता कहा जाता है विकार रहित करता एवं भूत करता इस प्रकार जो करता होगा एवं भूत ये मुक्त संगोन हम बाधे धृत्व साहसमन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार इस प्रकार का जो करता है एवं भूत करता यह जो करता है स सात्विक उचित उसको सात्विक कहा जाता है यह अर्थ है ठीक है कहते हैं संगो नाम फलावसंधिर्वा कर्तृत्वाभिमान व माने हाँ, संग माने कहा है या तो फल में आसक्ति है कर्तृत्व में आसक्ति है या कर्तृत्व में या भोक्तृत्व में दो में आसक्ति को संग कहा गया यही है संगो नाम संग माने क्या है मुक्त संग में संग शब्द है तो संगो नाम फलाभिसंदेह फल की अभिलाषा इच्छा अथवा कर्तृत्वाभिमान अच्छा कर, कर्तृपना में अभिमान मैं करता हूं करके अभिमान ये दोनों का ही संग कहा जाता है उससे मुक्त हो दोनों से मुक्त हो रही तो आता है नाहम बदनशील भाष्य में आया था मुक्त संघ अनहम वादी का अर्थ क्या नाहम बदनशीला कहा था उसका अर्थ कर रहा है करता अहम यदि बदनशीलो न बहुत मैं करता हूं ऐसा बोलने का स्वभाव वाला नहीं होता जो व्यक्ति मैं करता हूं ये कर्म करता हूं ऐसे बोलने का स्वभाव जिसका नहीं है उसको अनहमवादी बोला हुआ है यही है धारणम धैर्य कहा धृति का अर्थ धारण का था धृत भाष्यकार ने धृति शब्द का अर्थ धारण किया था धारण मान क्या धैर्य स्थिति है जो अष्टांग योग के धारणा नाम के योग है ना धारणा नाम का योग है मान आसन प्राणायाम अगे प्रत्याहार धारणा हम्म। तो प्रत्याहार माने इंद्रियों को बाहर से भीतर करना है उल्टा आहार मिलाना पहले बाहर के आहार ले रहे थे और भीतर की तरफ करना प्रत्याहार वही है उसके बाद धारणा माने इंद्रिय को जब भीतर लाया तो फिर जहां जाने न दे धैर्य करके उसको रोके उसका नाम धारणा है स्थिति है फिर ध्यान समाधि आदि की बात है एक बार इंद्रिय अपने निगृहित कर रखा है उसके बाद फिर बहिर्मुखी होने न दे इसी का नाम है धारणा धारण करके रखना धैर्य धैर्य पूर्वक होगा काम ष्ठ अध्याय में कहा था गीता में शनय शनय ऊपर में धृत्य बुद्धि गृहित आया था धैर्य के द्वारा धीरे धीरे करके उपराम करे विषयों से उपराम करे मन को किंतु धैर्यपूर्वक धृतिया बोला धृति से धैर्य से कैसे बुद्धि गृहित आया धृतिया केवल धैर्य ने बुद्धि से पकड़ना पड़ेगा धैर्य को बुद्धि के द्वारा धैर्य को पकड़ते हुए उसको धीरे धीरे धीरे धीरे विष्णु सुप्राम करे सस्तम मन कृत्वा न भी चिंता है जो आत्मा भी संविक करके मन को उसके बाद कोई भी वस्तु का चिंतन छोड़ दे ऐसा धीरे धीरे लाना तो धृति का अर्थ धैर्य यही होता है यहां धारणा बोल दिया था भाषिकार ने उसका अर्थ टीकाकार धैर्य हम बोलते हैं क्रियमाण से कर्मण यदि फलाभिसंदेश तरही न अनुष्ठान विश्रम्भ संभवेत इतिहास ग्रह अब यह शंका हो जाती है जो क्रियमाण किया जा रहा है जो कर्म किया जा रहा है क्रियमाण कर्म है यदि फलाभिसं फल अनभिसंधि यदि फल की आशा नहीं होनी है फल में अभिसंधि ने अनभिसंधि हो यदि तरी तब तो न अनुष्ठान विश्रम फिर अनुष्ठान में विश्वास नहीं होगा कर्म के अनुष्ठान में विश्वास नहीं होगा फल की आशा से ही कर्म होता है फल की आशा में अभिसंधि नहीं है इच्छा नहीं है तो स्थिति में क्या होगा अनुसार में आप विश्वास नहीं आएगा विश्वास नहीं आएगा करेगा नहीं कर्म न अनुष्ठान विश्रम समवेद फिर अनुष्ठान में विश्वास नहीं आ पाएगा ये संग आ गई तो उत्तर दिया अरे बाबा विश्वास ईश्वर के वचन है करके करे केवलम एक आधावास में केवलम शास्त्र प्रमाण शास्त्र में प्रमाण है इसके द्वारा प्रेरित होकर कर्म करना ठीक है फलरागा देना आदि सब देना फल राग आदि ना अयुक्त कहा है माने फल और राग आदि के द्वारा अयुक्त है तो एक तो राग हो गया आदि से क्या लेना है कहते हैं राग आदि आदि शब्द ना कर्म राग फल में राग या कर्म में राग आसक्ति फल मेरे लिए होना अथवा कर्म मैं करता हूं आसक्ति ये दोनों से रहित होता हुआ केवल शास्त्र प्रमाण के कारण कर्म करता है उसको विश्वास करके करता है इतना आता है उसको सात्विक करता कहते हैं कहा अयुक्त इतिषेध अयुक्त तो है अयुक्त पहले जमाने में जो खंडाकार होता नहीं था इसलिए आप पदसित करके रख रहे हैं इतना है आगे ठीक है हम कहते हैं राजसम कर्तारम कथा दे जो रजोगुणी करता है ना उसको कहते हैं आगे इसको राजस रजोगुणी करता कहेंगे किसको कहेंगे तो बताते हैं रागे कर्म फल अप्रेपोर लुब्धो हिंसात्मक हो शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्ति रागे कर्म फल अप्रेपोर लुब्धो हिंसात्मक हो शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्ति रागी फल रागी कर्म रागी फल में आसक्ति है कर्म में सकती है उसको रागी कहते हैं रागो अशस्ति रागी प्रेम करना कहा फल में कर्म के फल में या कर्म मैं कर्म करता हूं अब फल मेरा होगा ऐसा रागी राग वाले को रागी बोलते हैं दंड वाले को दंडी बोलते हैं इसमें राग वाला आसक्ति वाला फल में आसक्ति है कर्म में आसक्ति दोनों में आसक्ति वाला कर्म फल प्रेपसोर कर्म फल के प्रकृष्ट इच्छु प्राप्त तुम इच्छुक कर्मफल को प्राप्त करने इच्छुक तभी कर्म करेगा क्योंकि जन सामान्य की स्थिति ऐसी होती है प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित वाली बात है प्रयोजन को देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती प्रवृत्ति का कारण है प्रयोजन पहले प्रयोजन देखता है ये करने से मुझे क्या लाभ होगा पहले लाभ हो तो उसमें प्रवृत्ति होगी लाभ नहीं तो नहीं होगी तो ये कैसा है राग ये राग है आसक्ति है उसको कर्म में फल में फल प्रेक्षुर फल कर्म के फल के इच्छा रखने वाला ये कर्म का फल मुझे मिले ऐसा लोभधा लोभी है वो लुब्धा हिंसात्मक माने प्राणियों को पीड़ा करने वाला कर्म करते हुए प्राणी को पीड़ा करने कष्ट पहुंचाने वाला ऐसा स्वरूप है उसका अशुचि बाहर भीतर से अपवित्र है बाहर से भी नाना धोना नहीं है अपवित्र है भीतर भी भगवान का नाम लेता नहीं है अपवित्र है हर्ष शोकान्वित करता और फल की सिद्धि हो गई तो हर्ष से उत्कंठा जगे उसकी और फल की असिद्धि में शोक से युक्त हो जाए ग्रसित हो जाए ऐसे कर्ता को क्या कहते हैं राजस कर्ता कहते हैं हर्ष शोकान्वित करता कर हर और शोक से अन्वित संबंधित है फल की सिद्धि में हर्ष है फल की असिद्धि में शोक है ऐसा करने वाला जो करता होगा उसको राजस करता कहते हैं परिकीर्त शास्त्रकार ने उसको ऐसा कहा यह शब्द है रागी मैंने कहा रागी कर्मणी कर्म में रागी है फल के लिए तो फल प्रेपस के द्वारा ही कर्म फल प्रेप में आसक्ति है उसकी या रागी शब्द कहता है मतलब कर्म में राग है आसक्ति है ठीक तो कहते हैं रागी माने रागो अश्य स्थिति रागी अतः यदि ठनव सूत्र से इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ राग शब्द से राग वाला जैसे दंड वाले को दंडी बोलते हैं इस प्रकार रागो अस्य रागी यही है कर्म में रागी यह अर्थ है आसक्ति वाला क्यों फल के लिए तो अलग है कर्म फल प्रेपु अलग है ये रागी को केवल कर्म के साथ होने का कर्म में रागी कर्मफल प्रेपसो कर्म फलार्थी कर्मफल के अर्थी है चाहने वाला है कर्म में आसक्ति भी है फलाशक्ति भी है ऐसा वाला व्यक्ति लुब्ध कहा लोभी जिसको बोलते हैं क्या लोभी क्या होता क्या होता है लोभ का परद्रव्य सु संजात तृष्णा दूसरे के अधिकार में वस्तु है उत्पन्न हो गया तृष्णा मेरे हो जाए ये मेरा हो जाए मेरा हो जाए यही लोभ लुब्ध कहा लोभी यही लुब्ध का अर्थ द्रव्य सु दूसरे के हाथ में द्रव्य है अपने पास नहीं है किंतु संजात उत्पन्न हो गया सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया तृष्णा जिसकी दूसरे के द्रव्य में अधिकार जमाने के लिए तृष्णा पैदा हो गई इच्छा विशेष पैदा हो गई ऐसी स्थिति में उसको लोभी कहते हैं लुब्ध कहते हैं यही है संजात तृष्णा और दूसरा लोभी का अर्थ दूसरा भी होता है एक तो दूसरे के धन में आसक्ति युक्त होकर बैठना लोभ दूसरा है तीर्थाद स्वद्रव्य अपरित्यागी तीर्थादि में जाने पर अपने शक्ति के अनुसार कुछ को द्रव्य परित्याग करना चाहिए देना चाहिए वहां तीर्थ की मर्यादा है वहां की सर सफाई के लिए जो पुजारी होगा अमुक होगा वहां भगवान के लिए जो भी नैवेद्य आदि चढ़ना होगा चंदन पुष्प आदि चढ़ना होगा अपने शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहिए किंतु वहां नहीं देने वाला इसको भी लोभी कहते हैं तीर्थादिशु कहा तीर्थादिशु तीर्थाद तीर्थादि में भी एक तो हो गया दूसरे के द्रव्य में आसक्ति रखने वाला लुभता का अर्थ दूसरा है तीर्थाद स्वद्रव्य अपरित्यागी अपने द्रव्य का धन का खर्च नहीं करता जहां जब पिया अपनी शक्ति के अनुसार कुछ तीर्थ में करना चाहिए शक्ति के अनुसार दूसरे तो व्यक्ति बहुत कुछ करता हो तो सामान्य एक सिक्का तो डाल सकता है दे सकता है तो कर सकता है इसको लुब्ध कहते हैं लोभी और हिंसात्मक कहा हिंसा रूप है वो हिंसा माने क्या है परपीड़ा स्वभाव दूसरे को कष्ट देना ही जिसका स्वभाव है जो भी कर्म करेगा दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसे जो करता होगा वो राजस करता होगा ये कहना चाहते हैं जो भी कर्म होगा दूसरे को नाश करने के विचार से करता है जैसे ओला गिरता है ना ओला दूसरे खेती को नाश करने के उद्देश्य से गिरता है मैं कर्म करूंगा तो इसका हानि होगी ये करूं तो हानि होगी इस उद्देश्य से कर्म करता है हिंसात्मक होता है उसका नाश करना ही स्वभाव है उसका दूसरे को दूसरे को कष्ट देने के लिए कर्म कर रहा है ऐसा व्यक्ति ये राजस्कर्ता में आता है कहते हैं हिंसात्मक मान पर पीड़ा स्वभाव दूसरे को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुचि माने बाह्यांत शौच वर्जिता बाहर की शौच पवित्रता भी नहीं भीतर की पवित्रता भी नहीं अंतकरण भी अपवित्र है और बाहर शरीर भी अपवित्र है बाहर की पवित्र तो स्नान आदि के द्वारा मिट्टी जल आदि के द्वारा होना था और भीतर के भगवान के नाम के संकीर्तन से होना था दोनों नहीं है यही है अशुचि का अर्थ है पवित्रता का अभाव हर्ष शोक और आगे हर्ष शोक से युक्त है कर्म की सिद्धि हो गई तो हर्षित हो रहा और कर्म की असिद्धि हो गई तो रहा ऐसे संबंधित हो जाना हर्ष अनुता इष्ट प्राप्त हो हर्ष इष्ट प्राप्त कर्म का फल इष्ट हो गया इष्ट फल मिल गया तो हर्षित होना और अनिष्ट प्राप्त हो इष्ट भी हो गया तो अनिष्ट की प्राप्ति हो गया अथवा इष्ट का हानि हो गई उस स्थिति में शोक शोक करने वाला ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम का वो दोनों के द्वारा संबंधित जो करता होगा संयुक्त अनुत मान संयुक्त तस्व कर्म संपत्ति विपत्ति और हर्ष सबको से आता जो कर्म कर रहा है वो उसी के संपत्ति और विपत्ति दो में से एक तो होना ही है कर्म की सफलता या असफलता तो होनी है संपत्ति माने सफलता असंपत्ति माने विफलता संपत्ति विपत्ति और हर्ष शोक से आता हर्ष शोक होगा उसी कर्म में यहां पर ऐसे कर्ता का हम दिया है काव्याम संयुक्त हर्ष शोक से जो संबंधित हुआ जो करता है यह करता ऐसा करता होगा स राजस परिकृत राज उस कर्ता को राजस कर्ता कहा, है लोगों ने ठीक है कहा कर्म विषय राग कर्म विषय राग माने राग शब्द जो है रागी का अर्थ राग वाला तो राग किस में लगाना रागी फल में कि कर्म में कहते कर्म विषय राग कर्म को विषय करता है राग शब्द किसमें क्यों फल के लिए तो फल प्रेप सुविधा और तो है शब्द स्वतः शब्द है भाष्य का मूल में फल प्रसुर है फल को चाहने वाला फल के लिए तो आसक्ति वाला ही है वो तो राग रागी शब्द के द्वारा कर्म राग वाला आसक्ति वाला ही आता है ये कहा कर्म विषय राग है राग शब्द यहां दिया रागी बनाया कर्म विषय का वो फल विषय नहीं फल के लिए तो अलग है कर्म फल प्रेपसिद्धि राग से पृथक कथनात् तो कर्म फल प्रेपसुर के द्वारा फल फल के राग के लिए तो अलग से कथन किया है क्या किया अलग शब्द है कर्मफल प्रसु है तो रागी का अर्थ कर्म में राग वाला यह अर्थ होगा स्वाभिप्राय अप्रकटीकरण पूर्वकम परपीड़म परवृत्ति विच्छेदम तेना स्वार्थ पर इत्यर्थ कहते हैं लुब्धा इत्यादि था ना अपने अभिप्राय को प्रकट नहीं करता मैं किस उद्देश्य से आया हूं अपना उद्देश्य प्रकट नहीं करेगा परपीड़न दूसरे को कष्ट पहुंचाना मैं तुम्हें ऐसा हानि करने आया ना बोलता छिपा के बोलेगा अपने अभिप्राय को छिपाता हुआ दूसरे को कष्ट पहुंचाता है यही कहा और परवृत्ति छेदन दूसरे को तो साधन जीविका के साधन उसे विच्छेदन करने वाला यही होता है तेना तो स्वार्थ पर जो स्वार्थ परक होता है इसलिए लुब्ध कहा उसको क्या कहा लुब्ध कहा हुआ लोभी दूसरे को वृत्ति को समाप्त करके अपने अधीन करना चाहता है अपने अभिप्राय नहीं करता प्रकट नहीं करता उस बाहर से और कुछ बोल करके उसके संपत्ति छीनने की इच्छा वाला ये लोग होता है ये कहा हुआ है आगे तामसकर्ता के बारे में बोलते हैं यही है अयुक्त इत्यादि है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृति गोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्त असमाहित एकाग्र चित्त नहीं जिसकी विक्षिप्त है अयुक्त ना एकाग्र एकाग्र नहीं युक्त नहीं अयुक्त है युक्त तो एक विशेषण तामस करता था दूसरा प्राकृत प्राकृत का अर्थ होता है संस्कार से रहित कोई भी संस्कार नहीं जिसमें संस्कार रहित व्यक्ति को प्राकृत कहते हैं जैसे पामर आदिवासी लोग होते हैं ना अथवा पशु आदि हैं संस्कार नहीं है इस प्रकार के पर प्रकृति के ही उसमें केवल दिन रात आदि का पता है जैसे पशु जानते दिन रात का अपने खान पान संबंधी इतने बह बैठा है इस लोग परलोक संबंधी ज्ञान नहीं ईश्वर है या नहीं है कोई पता नहीं शास्त्रीय ज्ञान शून्य है उसको प्राकृत पुरुष बोलते हैं पशुवत जिनका जीवन है वो प्राकृत शास्त्रीय संस्कार नहीं है प्राकृत यही होता है अयुक्त एकाग्र रहता कोई भी कार्य में एकाग्रता चाहिए एकाग्रता रहित प्राकृत प्रकृति में बहने वाला है मान शास्त्रीय संस्कार से रहित है वही प्राकृत होता है स्तब्ध हम्म। माने किसी को झुकना झुकता नहीं है किसी को भी नहीं झुकना झुकना नहीं चाहता चाहे बातों में हो चाहे शरीर आदि से क्या झुके बातों से भी नहीं झुकेगा स्तब्ध है सठ सठ है परवंचना करने बहुत कुशल है ठगने के लिए इसको सठ बोलते हैं नैष्कृति का कहते हैं दूसरे की वृत्ति को छेदन करने वाला विच्छेद करने वाला दूसरे की जीविका के साथ जीविका के साधन को हड़पने वाला उसको नैष्कृति का बोलते हैं ऐसा करता है काम तो कर रहा है वो दूसरे की वृत्ति छेदन कर रहा है ऐसा करता है वो भी करता है काम तो कर रहा है आलस आलसी है करूंगा कभी करूंगा करूंगा टालता रहता आलसी अलस और विषादी शोक से युक्त होता रहता हमेशा शोक युक्त है कुछ भी मिले उसको शोक जाने वाला नहीं ये क्या होगा जीवन क्या होगा अब क्या चलेगा कैसा रहेगा कैसा होगा शोक युक्त हमेशा शोक से युक्त है ऐसा और दीर्घ सूत्री का तो छोटे से काम के लिए बड़े लंबे समय लगा देने वाला यह दीर्घ सूत्री होता है लंबा समय लगा देना ऐसा जो करता होगा तामस उच्चते ऐसे करता को तामस कहा जाता है ये कहा हुआ है में अयुक्तम असमाहित चित्त एकाग्र नहीं जिसका कोई भी कर्म करने के लिए चित्त एकाग्र होना चाहिए एक ही आगे हो तभी कार्य की सफलता होगी जैसे बाण बनाने वाले की दृष्टांत दिया गया है शास्त्रों में बाण बनाने वाले को वो जो बाण के नोक होगा बिल्कुल बैलेंस सही होना चाहिए नहीं तो इधर झुक जाएगा तो यही गिरेगा लक्ष्य तक नहीं जाएगा जैसे उसकी दृष्टि होती है कहते हैं राजा की सवारी गई एक लोहार बाण बना रहा था वही रास्ते के बगल में था बाजा गाजा के साथ गई एक सैनिक छूट गया थोड़ा पीछे दौड़ दौड़ के आ रहा था पीछे से तब तक ये बाढ़ हो गया काम अपना चाय पानी पी रहा था बैठ करके लोहार उसे पूछा राजा की सवारी गई कितने देर हो गया आगे उसने कहा मेरे को पता नहीं तुम यही थे बोला यही था क्यों फिर क्यों पता नहीं लगा मैं मेरी तो यहां मन सारा इसमें लगा हुआ था ये बाण बनाने के लिए एकाग्रता तो एकाग्रता का अभाव को अयुक्त कहा जाता है अयुक्त बने असमाहित चित्त समाहित नहीं है एकाग्र नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए चित्त एकाग्र चाहिए एक सुई में धागा भी नहीं डाल सकता व्यक्ति एकाग्रता के बिना एकाग्रता चाहिए माने ध्यान से करना जब बात ये ध्यान माने एकाग्र है अयुक्त मन असमाहित एकाग्रता का भाव प्राकृत माने अत्यंत असंस्कृत बुद्धि संस्कार में बुद्धि पर कोई शास्त्रीय संस्कार का भाव है हम्म। प्रकृति के आधार पर जीने वाले जैसे पशु आदि होते हैं उसको प्राकृत कहा हुआ है हम्म। प्राकृत माने अत्यंत असंस्कृत बुद्धि बाल समझ जैसे छोटा बालक होता है बिल्कुल दुदुमोह बालक होगा उसको पता नहीं होता शास्त्रीय संस्कार रहित होता है तो ठीक इसी प्रकार स्तब्ध मैंने दंडवत न नमती किसी को भी झुकता नहीं है झुकने का स्वभाव होता ही नहीं उसका ये जो तामस करता होगा कस्मय सिद्ध कहा तब तब दंडवत ननमति कष्ट किसी को भी प्रणाम नहीं करेगा दंडवत झुक करके प्रणाम नहीं करेगा शक्ति परीक्षण भले कर जाए आजकल शक्ति परीक्षण का जमाना आया है आओ कितनी शक्ति हो पाए हाथ जोड़ना नहीं आता झुकना नहीं आता आजकल तो शक्ति परीक्षण वाले दिन आ गए यहां तक पुरुष और महिला भी आपस में करने लग गए स्थिति आ गई क्या स्थिति हो गई पता नहीं कहां तक हम गिर चुके हैं स्तब्ध मैंने दंडवत न नमति कस्मचित का किसी को भी नमस्कार नहीं करता दंड दंडवत होकर जैसे लकड़ी पड़ी हो ना सीधा हो जाना लेट लेटी हुई थी लकड़ी इस प्रकार से किसी को भी नमस्कार नहीं करना ऐसा वो ये स्तब्ध का सठो मैंने माया भी कपट करने वाला भीतर कुछ बाहर कुछ शक्ति गुहनकारी शक्ति को छिपाने वाला उसको सठ कहा जाता है नष्कृतिका आया है परवृत्ति छेदन पर यही है नैष्कृत का दूसरे की वृत्ति को नाश करने वाला हड़पने वाला नैष्कृतिक कहलाता है कृति छेदन धातु है मेरे उपसर्ग लगा हुआ है नैष्कृतिक बना हुआ है परवृत्ति छेदन पर का दूसरे की वृत्ति जो साधन जीविका की वृत्ति थी जिसकी उसको छेदन नाश कर देना अपने हड़पना उसको नैष्कृतिक कहते हैं आगे अलसमय अप्रवृत्तिशीला किसी में प्रवृत्ति नहीं गुमसुम पड़ा रहेगा प्रवृत्ति रहित हो जाता कर्तव्य से जो कर्तव्य था उसमें भी प्रवृत्ति रहित है आलस्य इसको बोलते हैं विषादी आया आगे शोक करने वाला हमेशा शोक करने वाला सर्वदा अवसन्न स्वभाव का विषादी करना हमेशा रोता रहता है शोक ही करता रहता है जहां भी पहुंचे जिस स्थिति में हो रोने काम है शोक करता रहता है ऐसा दीर्घ सूत्री लंबे समय छोटे से काम को लंबे समय कर देना कर्तव्य दीर्घ प्रसारण जो कर्तव्य है उसको लंबे फैलाना यद अध्यक्ष शोभा कर्तव्य जो का, का, का, कार्य आज या कल करना हो तन मासे जा भी न करते वो महीना भर में भी नहीं करता ये दीर्घ सूत्री का है करेंगे धीरे धीरे जीवन बहुत लंबा है ऐसा मानता रहता है कर्तव्य में ऐसा कर जाता है यश एवं भूत करता स तामस होते इस प्रकार जो करता होगा उसको तामस करता कहा जाता है ये कहा है टीका में कहते हैं दीर्घम सूत्र तुम शीलम अश्य वित्तम गृहत्वा दीर्घ सूत्री बनाया है लंबे समय करने का स्वभाव जिसको बन गया है उसको कहा करके विवक्षित कहा आराम ये कहा था दीर्घ सूत्र बन गया है तो कहा कर्तव्याम दीर्घ प्रसार है ये जो कर्तव्य आज या कल करने का काम है उसको महीना भर में भी नहीं करना एवं क्रियमाणे सती अनिष्टम इदम कथनचित आपद्यत यदा पुनरेवं क्रियते तदा तो अनिष्टम एवं संभावना उपनीत विधि चिंता परंपराया मंत्र प्रवृत्ति माने ये दीर्घ सूत्र का अर्थ बता रहे माने कछुआ की जैसे प्रवृत्ति होगी पक्षी आदि के नहीं पक्षी आते तुरंत पहुंच जाते हैं पशुआ धीरे धीरे चलेगा ऐसे धीरे धीरे चलना इसको दीर्घ सूत्री कहा जाता है आज या कल करने का काम वो महीना भर जो भी नहीं करता यही यही कहना चाह रहे हैं क्यों वो उसके हम चिंता हो जाती है सोचता है एक कर्म कैसा है एवं क्रियमाणे सती इस प्रकार से करने वाले कर्म करने जा रहा हूं मैं इसमें अनिष्टम एकदम इदम कथनचित आपत्ति इसमें कोई अनिष्ट होने की संभावना होगी कोई अनिष्ट आ जाए या कर्म में जिस कर्म में करने जा रहा हूं यदा पुनर्वम क्रिय थे इस प्रकार कर्म अनिष्ट अथवा इस प्रकार करूंगा तो हाँ तरा तो अनिष्टम मेरे अनिष्ट अवश्यम भावी है एक पहले वाले में तो संदेह है ये इस प्रकार करूंगा तो अनिष्ट होने की संभावना है और दूसरे प्रकार है इस प्रकार करूंगा तो अवश्य अनिष्ट होना है ऐसा सोच के हुए उपनत वृत्ति चिंता परंपरा या चिंता की परंपरा से मंथन प्रवृत्ति चिंता इस प्रकार की इस प्रकार कि इस प्रकार करो इस प्रकार होने पर ये आपत्ति आने की संभावना है और इस प्रकार होगा तो अवश्य आपत्ति आएगी कैसा करूं ऐसे चिंता परक होकर कर्म को लंबा कर देना इसे कहते तो मंथर मंथर वाले कछुआ को मंथर बोलते हैं धीरे धीरे चलने वाली की प्रवृत्ति मैंने आज या कल कर्म कर्म था महीना भर में नहीं करना इसको कहते दीर्घ सूत्री तदेव प्रश्न उसी मंत्र प्रवृत्ति को स्पष्टीकरण दिया यद अद्य शोभा इत्यादि कहा था जो आज या कल कर्तव्यम जो कर्तव्य आज ही पूरा करने का था अथवा कल तक करना था तत् तत् मैंने वो कर्तव्य मासे ना भी न थी महीना भर में भी नहीं करता क्यों उसकी चिंता में पड़ जाता हो ऐसा करूंगा तो ऐसी आपत्ति होने की संभावना है इस तरह से करूंगा तो आपत्ति अवश्य है कैसा करूं बस इसी चिंता में लंबा कर देता है शास्त्र जो बोलता है उसमें कर्तव्य है तो कर्तव्य है क्या ऐसा ऐसा वहां शंका आदि करने की आवश्यकता ही नहीं है यही है ज्ञानादि नाम प्रत्येकम त्रैविधम होता ज्ञान कर्म करता तीन को एक एक करके तीन तीन प्रकार बता दिया ज्ञान तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार का कर्ता तीन प्रकार का बता दिया क्योंकि ज्ञानम कर्मच करता च त्रिदैव गुण भेद प्रतिदय गुण संख्या ने यथावश्यता ने विभाव कहा उसके विस्तार में नौ श्लोक हो गया तीन प्रकार का ज्ञान तीन प्रकार के कर्मा तीन प्रकार के कर्ता ये बता दिया अब कहते हैं ज्ञानादि नाम प्रत्येकम ज्ञानादि जो एक एक का तीन तीन प्रकार कहा क्या क्या कहा प्रत्येकम एक एक करके ज्ञान कर्म कर्ता त्रैविध्यम उत्तर तीनों माने तीनों को तीन तीन प्रकार से कहा ज्ञान को भी कर्म को भी कर्ता को भी कहा वृत्तिमत्या बुद्धि बुद्धि जो है ना वृत्ति वाली अंतकरण की वृत्ति वाली बुद्धि होती है बुद्धि में वृत्तियां होती है तो वृत्ति वाली जो बुद्धि है वृत्तिमत्या बुद्धि वृत्ति वाली जो बुद्धि है तद वृत्तेश और बुद्धि के वृत्ति जो धृति आदि है दोनों को कथन करेंगे बुद्धि भी तीन प्रकार की होगी वो वृत्ति वाली होती है और धृति जो है बुद्धि के वृत्ति है वो धृति का भी धृताख्या कहते हैं तो वो बुद्धि के जो वृत्ति है धृता नाम धृत नाम की है धृति धृति नाम की है धृति बुद्धि की वृत्ति एक त्रैवितम सोचाई इसको भी तीन प्रकार के सूचित करते हैं माने वृत्ति वाली तो बुद्धि है माने धृति जो वृत्ति है वाली बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्ति है धृति वो दोनों का बुद्धि और धृति दोनों का भी तीन तीन प्रकार से विवेचन करते हैं तो बुद्धिपूर्वक काम करना होगा धैर्यपूर्वक काम करना होगा कैसे धैर्य रखना होगा कर्म आदि करते समय में और कैसे बुद्धि रखनी होगी ये विचार करना है इसके लिए बुद्धेर इत्यादि कहा हुआ बुद्धेर भेदम धृतेश्चव गुणतस्त्रिविदम श्रवण प्रच्यमान प्रत्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रत्यमानमशेषेण पृथक् धनंजय बुद्धेर्भेदम बुद्धि का भेद को सुनो कहा हुआ है बुद्धि के भेद तीन प्रकार का भेद सतु सतु मैंने सात्विक बुद्धि राजस बुद्धि तामस बुद्धि तीन भेद वह धृति का भी ये बुद्धि की वृत्ति है धृति क्या है ये वृत्ति है और वो धृति वृत्ति वाली बुद्धि है वृत्तिमती है वो वृत्ति वाली है धृत से धृति का भी क्यों कोई भी कार्य करना हो या ज्ञानार्जन करना हो कर्म करना हो या कर्तापना हो धैर्य की आवश्यकता है बुद्धि की आवश्यकता है उसके बिना बुद्धि के बिना कर नहीं सकता धैर्य की भी आवश्यकता है धृति बिना धैर्य तो उसकी भी आवश्यकता उसके बिना कर नहीं सकता इसलिए उनके भी तीन तीन भेद सुनो सात्विक राजस तामस ये कहना है बुद्धि वेदम धृत बुद्धि का भेद तीन प्रकार का भेद और धृति का भी गुणतः गुण के कारण से किसका है त्रिगुण के कारण से क्योंकि सारे के सारे गुण त्रिगुणात्मक है तो गुण के कारण से त्रिविधम सुनो बुद्धि का भेद भी तीन प्रकार का सुनो धृति का भेद भी तीन प्रकार का सुनो धृति मान धैर्य यही होता है प्रत्यमान अशेषण कहे जाने वाला जो भी कहने वो कहे जाने वाले हैं नजदीक में भी कहने वाले हैं बुद्धि का भेद धृति का भेद अशेषेणा पृथक धनंजय अलग अलग करके बुद्धि का भेद अलग धृति का भेद अलग अलग करके और धृति का भी तीन प्रकार का अलग अलग सात्विक राजस तामस बुद्धि का भी अलग अलग अशेषण पृथक पृथक पृथक रूप से संपूर्ण समझो बुद्धि का भेद और धृति का भेद को समझो क्यों बुद्धिपूर्वक करना होगा ज्ञानार्जन आदि जो भी करना है पूर्व में कहा हो जाए ज्ञान है कर्म है करता है बुद्धि के बिना कर नहीं सकता और धृति के धैर्य के बिना भी कर नहीं सकता उसको भी जानना बहुत जरूरी है तो बुद्धि वेदम धृत्य वेदम शब्द धृत्य के आगे भी लगना है बुद्धि के भेद तीन प्रकार का भेद धृति का भी तीन प्रकार का भेद गुणतः गुण के कारण से किसके कारण से सदगुण रजगुण तमगुण त्रिगुणात्मिका संसार है इसमें भी तीनों गुण है तो त्रिविधम सुनो तीन तीन प्रकार के भेद सुनो कहा प्रच्यमान अशेषण अशेष पृथक तो धनंजय कहा अशेषण प्रच्यमान तीनों को संपूर्ण रूप से कहे जाने वाला है तीनों दोनों का तीनों तीनों भेद बताना है भिन्न भिन्न करके सुनो पृथक अलग अलग करके समझो कहा सुनो कहा यह धनंजय धन को जीतने वाले ठीक है भाष्य में कहते बुद्धिर वेदम धृतश्चैव भेदम कहा भेदम शब्द वहां भी आएगा सकार से भेदम को पहले को भेद को लाना कहा बुद्धि का भेद तीन प्रकार का भेद सात्विक राजस्थामस इस प्रकार धृति का भी तीन प्रकार का भेद है गुणतः सत्वादि गुणतः सत्वादि जो तीन गुण के कारण से बुद्धि आदि में भेद आ जाते हैं सतगुण रजुगुण तमगुण के कारण से ऐसा होता है कहा सत्वादि गुणतः कहा त्रिविधम श्रृण तीन प्रकार के भेद को सुनो बुद्धि का भी धृति का भी इति सूत्र उपन्यास ये तो संक्षेप में कहा गया है पूर्वार्थ जो है संक्षेप में बता दिया क्या बुद्धिर्वेतम प्रत्यय गुणतः त्रिवेदम शिवम संक्षेप कहा ये संक्षेप कहा हुआ होता है प्रोच्यमान मैंने कथ्यमान आगे कहना है कहे जाने वाले आगे अभी बच्चे परिभाषण है ना सामने करके उच्चमान बना दिया है प्रोच्यमान मान कथ्यमान जो कथन होना है जिनका अशेष निर्वेश एक भी अवशेष न बचे पूरे के पूरे सुनो बुद्धि का भेद धृति का भेद अनवशेषण है निर्वशेष का अवशेष न बचे एक भी कुछ भी न बचे सब सुनो यथावत जैसा है पृथक ना अलग अलग रूप से सुनो बुद्धि का तीन भेद पृथक पृथक करके सुनो और धृति का भी सुनो कहा हुआ है कथावत पृथक तो विवेक तो पृथक कर मैंने अलग अलग करके विवेक पूर्वक पृथक करते हुए अलग अलग करते हुए सुनो सात्विक कौन होता राजस कौन होता तामस कौन होता इत्यादि धनंजय कहा धनंजय शब्द यहां अर्जुन के लिए प्रयुक्त हो गया तो भाष्यकार लिखते हैं धनंजय का क्या है धनम जयती थे धनंजय धन को जीतने वाले को धनंजय कहा जाता है कब दिग्विजय मानुषम दैवम च प्रभुतम धनम अजयत तेन असो धनंजय अर्जुन कहते हैं राजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय याग किया दिग्विजय दिग्विजय याग में सारे दिशाओं को जीतना या क्षत्रियों का अधिकार का है राजा युधिष्ठ ने किया दिग्विजय उस काल में मानुषम दैवम दो प्रकार के वित्त को जीता है अर्जुन ने मानुष वित्त वो आदि है जो वहां मारे यज्ञ आदि में दुग्धादि की आवश्यकता होगी तो वो आदि की जीता तब तक राजाओं से जीत के लाए और दैव भी तो उपासना है उसको भी अर्जुन ने किया महारसम दैवम च प्रभुतम अधिक दोनों के दोनों अधिक अर्जुन लाया था दिग्विजय याद में धनम प्रभुतम धनम बहुत सारे धन अजयत अर्जुन ने जीता तत्त राजाओं से जीता तेरह असौ धनंजय इसलिए असौ अर्जुन वो अर्जुन है इसी कारण से धनंजय का होता है धनम जयती तो धनंजय धन को जीतने वाले को धनंजय कहा जाता है इसलिए अर्जुन का विशेषण बन गया धनंजय धनंजयो अर्जुन अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा एक कारण है ठीक है ज्ञानादि नाम प्रत्येकम त्रैविध्यम होता ज्ञानादि ज्ञान कर्म करता ये तीनों को तीन तीन प्रकार कहा एक एक को तीन तीन करके कहा सातु राजस्थान गुण के कारण वृत्तिपत्या बुद्धि जो वृत्ति वाली बुद्धि है और तदवृत्ते से धृति क्या धृत्या क्या और बुद्धि की जो वृत्ति क्या है धृति धृति नामक है त्रैविद्यम से दोनों को भी तीन तीन प्रकार के सूचित करते हैं उदेर वृतम गुणतः द्वारा सूचयती इत्यादि सूत्र विवरण पर जाने थे संक्षेप में कहा था पूर्वार्ध में बुद्धेर वेतम धृतश्चैव त्रिवंश गुणतः त्रिवंश संक्षेप में है तो सूत्र माने संक्षेप उसका विवरण मैंने व्याख्या पूर्वार्ध में जो संक्षेप कहा है श्लोक के पूर्वार्ध में उसके जो व्याख्या है आगे मेरे से सुनो ये बोल के छोड़ रहे हैं उत्तरार्थ में प्रत्यमान अवशेषणा पृथक तो धनंजय कहा प्रतिज्ञा करते व्याख्या की प्रतिज्ञा करते उत्तरार्ध से किसके द्वारा उत्तरार्ध श्लोक के उत्तरार्ध से जो प्रतिज्ञा की थी बुद्धेर भेदम तृतय सही गुणतः त्रिवेदम श्रेणु कहा था प्रतिज्ञा है उसके केवल संक्षेप में कहा उत्तरार्ध से प्रोच्यमान अचेत कहे जाने वाला है अभी बुद्धि का भेद धृति का भेद आज कहे जाने वाला ये कहा प्रतिज्ञा करते प्रत्यमान अशेषण पृथक धनंजय कहा अभी कहा नहीं है मैंने उसकी व्याख्या के लिए कह दिया ये प्रतिज्ञा किया उत्तरार्ध में उसके मैं व्याख्या करता हूं मेरे द्वारा कहे जाने वाले कुछ सुनो ये कहा हुआ है अर्जुन से धनंजयत्व विपादित अर्जुन को धनंजय शब्द का विशेषण दिया यहां पृथक धनंजय धनंजय विशेषण है ना उसके व्युत्पत्ति दिखाते हैं क्या व्युत्पत्ति है दिग्विजय मानसम दैवम च प्रभुतम धनम अजयत यदि धनंजय यही है मैं दिग्विजय याग में युधिष्ठिर जो दिग्विजय याग था उसमें अर्जुन ने मानुष वित्त विजय तब तक राजाओं के साथ लड़ाई के लिए बोला कोई राजा करने से कर दिया राजाओं ने सबने तो मानुष वित्त जीता है दैव वित्त भी जीता है उपासना के माध्यम से इसलिए उसको धनंजय कहा जाता है उसने बहुत सारे धन जीता हुआ है इसलिए धनंजय दिया धनम अजय थे धनंजय धन को जीता है इसलिए धनंजय कहा इसको याद है आगे है बोलते अब सात्विक जो बुद्धि है इसको बताते हैं सात्विक राजस्थान तीन प्रकार की बुद्धि होती है तत्र आदो जो तीन तीन भेद बताने की प्रतिज्ञा की हुई पूर्व श्लोक में बुद्धि के भी धृति के भी तो उसे तत्र आदो उसमें पहले सात्विक बुद्धि निर्देश का सात्विक बुद्धि का उपदेश करते हैं निर्देश करते हैं कैसे बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं वो बुद्धि हमारे भाई या नहीं हम देख सकते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बन्धम मोक्षम जय व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्ति निवृत्ति च कार्या भया भय बंधम मोक्षम से अव्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी या बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि जानती है या बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि ऐसी जानती है क्या जानती है प्रवृत्तिम कर्म मार्ग को जानती है प्रवृत्ति मार्ग कर्म मार्ग निवृत्ति माने मोक्ष मार्ग ज्ञान मार्ग उसको भी जानती है प्रवृत्तिम से निवृत्तिम से ये प्रवृत्ति मार्ग है बंधन के कारण है ये मोक्ष मार्ग है मोक्ष का कारण है ऐसा समझती है जो बुद्धि प्रवृत्ति से निवृत्ति से प्रवृत्ति कहाँ कर्म मार्ग में कुछ समझती है तभी वहां नहीं करेगी और निवृत्ति माने मोक्ष मार्ग है ये दोनों को जानती हो प्रवृत्तिम से निवृत्तिम से कार्य कार्य कर्तव्य कर्तव्य जानते क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य है इसको समझती हो जो बुद्धि जब कुछ आने पर मेरे लिए कर्तव्य है क्या कर्तव्य है क्या है बुद्धि को तो निर्णय होगा प्रवृत्ति मार्ग को जानती है निवृत्ति मार्ग को जानती है कर्तव्य को जानती है और अकर्तव्य को जानती है कार्य अकार्य कार्य और अकार्य कर्तव्य अकर्तव्य दोनों को समझती हो जो बुद्धि भया भय भय शब्द विवेदी अस्पादित भय भय जिससे डरता हो उसको भय कहते हैं कर्ण कारक में भी धातु से अस्पत्य करके भय बनाया हुआ है विवेक अस्पादित भय जिससे डरता हो डरने के डराने का साधन होगा डरने का साधन उसको भय कहा गया तो भय और अभय दोनों को जानता हो ऐसा करने से भय मन नरकादि जाने का भय है वो कर्तव्य नहीं करेगा अच्छा कर्म करने से स्वर्गादि मार्ग का होगा वो अभय होता है दोनों मार्गों को जानता हो आगे बाएं किससे मिलेगा किसे अभय मिलेगा मोक्ष मार्ग अभय है हाँ, और अन्य मार्ग भय वाले हैं जिनको जानता हो और बंधम मोक्षम जो है बंधन क्या है मोक्ष क्या है इसको भी जानता है जानती है जो बुद्धि सा पा, पार्थ सात्विक कहा हे पार्थ सा माने वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है प्रवृत्ति को जाने निवृत्ति को जाने कार्य को जाने अकार्य को जाने भय को जाने अभय को जाने बंधन को जाने मोक्ष को जाने जो बुद्धि इन बातों को जानती हो यहां आठ बातें दी हुई है प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्ष इनको जो समझती हो जो बुद्धि उस बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं यह अर्थ है प्रवृत्ति जब भाषण प्रवृत्ति माने प्रवर्तनम बंध हेतु कर्म मार्ग प्रवृत्ति का अर्थ बंधन के कारण कर्म मार्ग है जिसको समझती हो बुद्धि तभी तो उत्तर नहीं जाएगी सात्विक बुद्धि ऐसी होती कर्म मार्ग को समझती है या हमारे लिए नुकसान है समझती है प्रवृत्ति में जब मैंने प्रवृत्ति मान प्रवर्तन हेतु प्रवर्तनम प्रवृत्ति होना बंधनम हेतु कहा बंधन के कारण कर्म मार्ग है कर्म मार्ग से बंधन होना है शरीर मिल रहा है उसको समझती है निवृत्तिम निवृत्ति मोक्ष हेतु मोक्ष के कारण जो तो होगा उसको निवृत्ति कहा हुआ है मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग जो त्याग मार्ग कर्म का त्याग मार्ग है वह है निवृत्ति मार्ग मोक्ष का कारण है वो बंध मोक्ष समान वाक्य वाक्यत्वाद प्रवृत्ति निवृत्ति रे कर्म संन्यास मार्ग कहते हैं यहां पर प्रवृत्ति निवृत्ति से कैसे लिया यहां माने ये कर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग कैसे लिया प्रवृत्ति शब्द कर्म मार्ग और निवृत्ति शब्द मोक्ष मार्ग कैसे लिया कहते आगे बंद मोक्ष शब्द आया इसी श्लोक में क्या आया उसके सहारे में होने से यह शब्द आया प्रवृत्ति और निवृत्ति इसलिए यहां कर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग लिया जाता है किसके सहसार से बंद मोक्ष के सहसार बंद मोक्ष तो यह ना प्रवृत्ति बंधन के कारण और निवृत्ति मोक्ष के कारण है इसलिए बंद मोक्ष के सहचार के कारण इसका अर्थ घटाया गया कर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग यही बोल रहे हैं बंध मोक्ष समान वाक्यत्वाद एक ही श्लोक में बंध मोक्ष भी आया प्रवृत्ति निवृत्ति भी आया प्रवृत्ति में निवृत्ति में इत्यादि है अब बंधम मोक्ष वृत्ति आया बंध भी है मोक्ष भी है तो बंध मोक्ष के साथ बंध मोक्ष तो प्रसिद्ध है बंधन है कर्म मार्ग और मोक्ष है हमारे निवृत्ति मार्ग जो मोक्ष है प्रसिद्ध है वो तो उसके साथ में पड़ा हुआ शब्द है इसके कारण इसका भी अर्थ उसी प्रकार करना होगा प्रवृत्ति का अर्थ कर्म होगा निवृत्ति का ही कहा बंधमोक्ष समान वाक्यवाद बंधमोक्ष के समान वाक्य है ये एक ही साथ में है बंधमोक्ष के साथ में ही है ये भी प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द यहां इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति जो है दो है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दो कर्म संन्यास मार्गो इति बताते कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग यही जाना जाता है प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ भी यही करता है प्रवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग और निवृत्ति का अर्थ संन्यास मार्ग मोक्ष मार्ग यही अर्थ है क्यों वो जो बंद मोक्ष के सहचार में साथ में है सहचरिता सहचरित सहचरित से ग्रहण व्याकरण बोलते हैं जो सहचार को देख करके अर्थ लेना होता है कहीं करना पड़ता है शब्द शब्दबोध के कारण होते हैं सहचार आगे क्या कहा उसके साथ संबंध रखे अर्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है कार्य कार्य वाले विहित प्रसिद्ध है कार्य होता है विहित कर्म शास्त्र विहित कर्म को विहित कर्म कहते हैं और अकार्य का होगा शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्म होगा प्रतिषिद्ध कर्म ये होता कार्य कार्य कार्य कार्य का आएगा शास्त्र विहित कर्म शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म इसको भी जो बुद्धि जानती हो एक कर्तव्य है अकर्तव्य है ऐसे जानती हो यही है कार्य कार्य प्रथमा दो वचन उसका अर्थ होता है विहित प्रतिषिध्य कहा विहित शास्त्र विहित कौन से विहित और शास्त्र प्रतिषिद्ध शास्त्र निषिद्ध किया वह अकार्य है और शास्त्र ने जो विधान किया वो कार्य है कार्य कार्य कर्तव्य उसी का अर्थ कर्तव्य और कर्तव्य जो क्या है कार्य कार्य का अर्थ है यह कर्तव्य और कर्तव्य दोनों को जो बुद्धि जानती हो एक तो बंद और मोक्ष को जानती हो प्रवृत्ति वृत्ति को जानती हो और और कार्य अकार्य को जानती हो मैंने कर्तव्य और कर्तव्य को समझती हो जो बुद्धि करणा करणाकरण इत्यतद यही है कार्य कार्य का अर्थ माने विहित प्रसिद्ध कहा कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य करणा करण और अकरण कर्तव्य करना क्या है नहीं करना क्या है जानती है जो बुद्धि यही अर्थ होता है कश्य किसका करना न करना प्रश्न आएगा करना न करना कर्तव्य कर्तव्य किसका प्रश्न है कश्य प्रश्न है देश काल आदि अपेक्षा देखो कोई भी कार्य होगा देश काल की अपेक्षा करके होता है देश काल परिस्थिति तीन बातों को लेकर किया जाता है सभी देश में सभी कर्म नहीं किया जा सकता जैसे समुद्र किनारे रहने वाले तीन बार स्नान कर सकते हैं गंगोत्री आदि में हिमालय में रहने वाले तीन बार स्नान नहीं कर सकते देश की अपेक्षा है काल हाँ। गर्मी के दिन में स्नान हो सकता है ठंडी के दिन में नहीं हो सकता तत्त स्थानों में वह काल की अपेक्षा भी है समय की अपेक्षा भी है कौन सी परिस्थिति आई यदि 104 डिग्री का बुखार होगा स्नान करेगा तो बनेगा हाँ, परिस्थिति को भी देखना कर्म करने के लिए यही कह रहे हैं आप किसके कर्तव्य कर्तव्य किसका तो कहते हैं देश काल आदि अपेक्षा देश काल परिस्थिति की अपेक्षा के द्वारा दृष्टादृशार्थानाम दृष्ट और अदृष्ट दो प्रयोजन जिनका होता है कर्मों का क्या होता है दृष्ट मानी इस अहिलौकिक फल और अदृष्ट होता है पारलौकिक फल दृष्टा दृष्टार्थानाम कर्मणाम दो प्रकार के कर्मों का देश काल आदि अपेक्षा करके कर्तव्य कर्तव्य यही है कार्य कार्य का अर्थ ही होता है कर्मों के कार्य अकार्य किसका कार्य अकार्य कर्मों का कर्तव्य और कर्तव्य देश काल आदि की अपेक्षा करके उन कर्म का कर्तव्य कर्तव्य यही है कार्य कार्य का अर्थ यही है भया भय आया भय और अभय भय शब्द है ना विवेक अस्मादित भयम डरता है इसके द्वारा उसको भय कहा जाता है न भय अभय हो जाएगा आगे न समाज करके माने करण कारक में अस्पृत्य है भी धातु से भी भय धातु से ये रथ सूत्र जो अस्पृत्य हुआ है कर्ण कारक में है कर्ता में नहीं भाव में नहीं कर्ण कारक में विवेक विवेति अस्मात इत भय कहा अपादान में है जिससे डरता है उसको भय कहा जाता है भय के साधन को भय कहा जाए क्या कहा भय के साधन जो होगा विवेक अस्पादित भयम तद विपरीत अभयम भय से विपरीत जो होगा उसको अभय कहा जाएगा भयम से अभयम से भय का भय और अभय को द्वंद्व समास करके रख दिया भया भय करके कहा है इसको भी जो बुद्धि जानती हो व्यक्ति है ना जानती हो दृष्टादृष्ट विषयों और भया भयो कारण इत्यर्थ कर रहे दृष्ट अदृश्य को विषय करने वाले जो भय और अभय हैं और एक तो नरक के लिए डर भय है नरक के साधना नहीं करेगा व्यक्ति भय है साधन भय स्वर्ग के साधना होगा इत्यादि अभय होता है साधन करेगा वो ये भय अभय जानना है कारण को जानना है आगे किससे भय होगा किससे अभय होगा भविष्य इसको देखे जो साधन होगा उसको भयावय कहा हुआ है कारण है भयावय का जो कारण है उसको कहा साधन भय का साधन अभय के साधन को भयाभय कहा हुआ है जो जो बुद्धि जानती हो ये भय के साधन है जो कर रहा हूं गलत काम कर रहा हूं भविष्य में डरना पड़ेगा अच्छा काम कर रहा हूं भविष्य में अभय होगा इत्यादि समझने वाली बुद्धि आगे <clears throat> बंधम मोक्षम जो व्यक्ति है उसका अर्थ कर रहे हैं बंधम सहेतुकम मोक्षम बंध मात्र केवल बंधन मात्र कारण के सहित बंधन समझना क्या समझना सहेतुकम हेतु के सहित कारण के सहित बंधन को समझना समझती हो जो बुद्धि मोक्षम से सह हेतु को या व्यक्ति का मोक्ष भी कारण के सही समझती हो उसके साधन क्या मोक्ष के साधन कैसे समझती हो बंधन मान संसार प्राप्ति के साधन है हम्म। मान पाप कर्म आदि है उसको भी समझती हो साधन के सहित बंधन को जानती हो जो बुद्धि और साधन के सहित मोक्ष को जानती हो जो बुद्धि केवल मोक्ष बंधन मात्र नहीं उसके साधन के सहित व्यक्ति भी जानाती कहा जानती है बुद्धि जो बुद्धि जानती है सा पाकता सात्विकी वो बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है तत्र ज्ञानम बुद्धि वृत्ति वृत्तिर बुद्धिस्तु वृत्तिमती कहा कहते बुद्धि बोलो ज्ञान बोलो एक ही चीज है आई ने एक ही माना हुआ है सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धिर ज्ञानम सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर ज्ञानम कहा हुआ है सारे व्यवहार का जो कारण होगा जिसके बिना कोई व्यवहार नहीं उसको बुद्धि कहा जाता है चौबीस गुणों में एक गुण है ना एक गुण यहाँ चौबीस गुणों में एक गुण है जिसके बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता सारे व्यवहार मात्र के जो कारण है उसको बुद्धि कहते हैं उसी का चल रहा ज्ञानम कहा ज्ञान है तो ज्ञान तो पहले बोल दिया है सत्रों अध्याय यहीं पहले बोला यहीं पर ज्ञान कर्मत करता तो ज्ञान का अर्थ कर दिया है तो फिर यह बुद्धि को कहने की क्या मतलब है यह बुद्धि की पुनरुक्ति होगी ना शंका आ सकती है पहले ज्ञान शब्द से कहा था सर्वभूतेश नैकम भावम अव्यमुक्षते अव्यपक्ता भूतेशु तज ज्ञानम विद्यात्मकम इत्यादि द्वारा ज्ञान का अर्थ कर दिया है ये बुद्धि माने भी ज्ञान ही है तो पुनरुक्ति होगी ये शंका होगी तो उत्तर देना चाहते हैं शंका मन में आ सकती है तो उत्तर दे रहे तत्र ज्ञानम स्थित देखो ज्ञान जो पहले कहा था वह बुद्धिर वृत्ति बुद्धि के वृत्ति है ज्ञान क्या है वृत्ति है वो और बुद्धिस्तु वृत्तिपति और ये बुद्धि क्या है वृत्ति वाली है ज्ञानाकार वृत्ति बुद्धि में होती है वृत्ति है ज्ञान और ये बुद्धि वाली क्या वृत्ति वाली कारण है वो कार्य है बुद्धि कारण है ज्ञान कार्य है वो वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति है और ये स्वयं बुद्धि है वृत्ति वाली है स्थिति है ये कहा तत्र क्यों ज्ञान पहले कह चुके ज्ञान के बारे में फिर बुद्धि बोला प्रवृत्ति ये शंका होगी तो उत्तर दिया तत्र ज्ञानम बुद्धिर वृत्ति कहा ज्ञान शब्द से जो कहा था पहले बुद्धि की वृत्ति है वो और बुद्धिस्तु किंतु बुद्धि जो है क्या है वृत्तिपति है वृत्ति वाली है इतना भेद है ज्ञान और बुद्धि में धृतिरपी वृत्ति विशेषक है आगे धृति के चर्चा करने वो भी एक बुद्धि के वृत्ति विशेष है वो धारणा वो भी वृत्ति में है वृत्ति विशेष एवं बुद्धि बुद्धि के ही वृत्ति विशेष है पृथ्वी भी ये कहा हुआ है समय हो गया टीका आदि फिर करेंगे पूर्ण पूर्णमद पूर्ण पूर्णाद पूर्णमदते पूर्णस्य ओम शांति शांति शांति कालवकाश